Acharya, today I would like to ask you about means to an end. Sir, in fact, this issue has been very much confusing for the world at large. Very many scholars from medievals to the present have tackled this issue from many sides giving different definitions and views. For instance, political philosophers have named it fundamental truths and diplomatic truths. Social philosophers have used it as ethical truths and social truths speculative philosophers have used it as the absolute and relative truths. Science philosophers have used it as a scientific living and art of living. But if I am not mistaken, sir, they deal with all all the nine basic issues of living, either subjectively or objectively, which are as under birth, second is ignorance, means non-cognizance, third is food, fourth is shelter, means security, fifth is clothing, means protection, sixth is the sex, means ways of living, seventh is sickness, and eighth is old age, and ninth is death. Would you please enlighten on the subject matter? सबसे पहले तो साध्य और साधन के संबंध को समझना चाहिए ऐसा हमेशा समझा जाता रहा है कि साधन अलग है और साध्य अलग है एम्स और मीन्स अलग अलग बात है ये बुनियादी भ्रांति की बात है उन्हें अलग मान के सोचने से कभी भी ठीक नतीजे पर कोई नहीं पहुंच सकता असल में साधन ही विकसित होकर साध्य बन जाता है मीन्स ही विकसित होकर ग्रहण बन जाता है वे दो चीजें नहीं है जैसे बीज और वृक्ष दो चीजें नहीं है और जन्म और मृत्यु भी दो चीजें नहीं है एक ही चीज विकसित होती है और दूसरी बन जाती है लेकिन दोनों के बीच में समय का बड़ा अंतर है ये टाइम गैप से भ्रांति पैदा होती है वो दो चीजें हैं और तब ऐसे सवाल उठने लगते हैं कि क्या हम गलत साधनों से ठीक साधन पर पहुंच सकते हैं ये प्रश्न इसलिए उठता है कि हमने साध्य और साधन को अलग स्वीकार कर लिया कोई ये नहीं पूछता कि क्या हम कड़वे बीज से मीठे फल तक पहुंच सकते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है कि बीज और फल एक ही यात्रा के दो तरफ एक ही चीज की दो स्थिति है बीज एक स्थिति है और फल दूसरी स्थिति है तो कोई भी ये नहीं पूछता कि हम मुर्गी के अंडे से आदमी तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते मुर्गी के अंडे से हम मुर्गी तक पहुंच सकते हैं जो उसने छिपा है वही प्रकट हो जाए अंडा और मुर्गी में जो फर्क है वो दो चीजों का नहीं है वो फर्क इतना है कि अंडे में जो छिपा है मुर्गी में वो प्रकट हो गया है बीज और वृक्ष में भी वही फर्क है साधन और साध्य में भी इतना ही फर्क है इसलिए गलत साधन कभी ठीक साधन तक ले जाने वाले नहीं हो सकते क्योंकि साधन ही यात्रा करते करते अंत में साध्य बन जाता है तो कोई ये सोचता हो कि मैं घृणा के साधन उपयोग करके प्रेम के साधु को पालू तो वो गलती में है वो घृणा के साधनों से चलकर अंततः और बड़ी घृणा पर ही पहुंचेगा और कोई ये सोचता हो कि मैं हिंसा के साधन का उपयोग करके अहिंसा की दुनिया बना तो गलती है हिंसा के साधन और बड़ी हिंसा में ही ले जाएंगे लेकिन साध्य और साधन के बीच इतना फासला है कि ये भ्रांति अक्सर हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम किन्हीं भी साधनों से किन्हीं भी साथियों तक पहुंच सकते हैं ये बिल्कुल ही असंभव है एक विशिष्ट साधन एक विशिष्ट साध्य तक पहुंचा सकता है तो इसलिए साध्य उतना विचारणीय नहीं है जितना साधन विचारणीय है क्योंकि साध्य तो कल होगा साधन आज है और जो हम आज चुनेंगे वही कल प्रकट होगा वृक्ष और फल उतने विचारनीय नहीं है जितना बीज विचारणीय है क्योंकि बीज आज में चुनना है और वृक्ष और फल इसी बीज से विकसित होंगे इसलिए साधन का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है लेकिन हमेशा मनुष्य जाति के इतिहास में अधिक लोगों ने साध्य को महत्वपूर्ण समझा है एंड को महत्वपूर्ण समझा है और वे मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में ऊंचा साध्य होना चाहिए ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए अंतिम लक्ष्य श्रेष्ठ होना चाहिए और उनकी सबकी ये दृष्टि अगर हमने श्रेष्ठ शब्द चुन लिया तो फिर सब ठीक हो जाए ये एम्फेसिस ये जोर ही गलत है साध्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण तो साधन ही है क्योंकि वो हमें आज चुनना है और जो हम आज करेंगे वो हम कल हो जाएंगे साध्य का मूल्य इतना ही है कि वो हमें साधन चुनने में महत्वपूर्ण होगा इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन को प्रेम से भरना है साध्य का इतना ही मूल्य है कि अब वो ऐसे साधन चुने जो प्रेम से शुरू होते हैं असल में प्रेम से ही शुरू होंगे साधन तो प्रेम तक पहुंचा देंगे नहीं तो नहीं पहुंचा पाएंगे पहला कदम ही हमारा अंतिम कदम है क्योंकि दूसरा कदम पहले कदम से निकलेगा तीसरा कदम दूसरे कदम से निकलेगा और अंतिम कदम हमारा पहले कदम की ही श्रृंखला का हिस्सा तो मैं साध्य से भी ज्यादा मूल्यवान साधन को कहता हूँ इसलिए कि साधन जो हम चुनेंगे वो कल साध्य हो जाएगा लेकिन मनुष्य ऐसी भूल करता रहा है और पूरा इतिहास इस भूल से भरा हुआ है कुछ लोग जो दुनिया में धर्म चाहते हैं वे भी धर्म लाने के लिए आधार्मिक साधना का उपयोग करते हैं कोई शिक्षक बच्चे को शिक्षा देना चाहता है लेकिन दंड का भय का उपयोग करता है कोई पिता कोई माँ अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन अच्छा बनाने के लिए जो भी करते हैं वो चूंकि बुरा है इसलिए बच्चे अंततः बुरे हो जाते हैं ये अगर हमें ठीक से ख्याल में आ जाए तो साध्य के संबंध में इतनी चिंता करनी जरूरी नहीं रह सकती जरूरी हो जाता है साधन के हम साधन चुनते वक्त निर्णय करें तो पहली तो बात ये ध्यान में लेना चाहिए कि साध्य और साधन को मैं एक ही मानता हूं इसलिए ऐसा प्रश्न ही नहीं है कि हम गलत साधनों से ठीक साथ पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते अब दूसरी बात जितने लोगों ने भी जीवन को दो हिस्सों में तोड़ दिया है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जिन लोगों ने कहा कि एक जीवन भीतर का है और एक जीवन बाहर का उन लोगों ने भी नुकसान पहुंचा है वस्तुता जीवन समग्र है इंटीग्रेटेड है यहाँ बाहर और भीतर जैसी दो टूटी हुई चीजें नहीं जैसे मेरी श्वास बाहर गई मुझे पता भी नहीं चल पाता है कि वो बाहर गई तो उसका भीतर आना शुरू हो जाता है और मैं बोध मुझे होता है कि श्वास भीतर गई कि मैं पाता हूँ वो बाहर जाना शुरू हो गई और जो श्वास भीतर जाती है वो वही है जो बाहर थी और जो भीतर है वो थोड़ी देर बाद बाहर हो जाएगी बाहर और भीतर इतने ही जुड़े हुए हैं जैसे श्वास बाहर और भीतर हो रही है असल में हमारे देखने के ढंग पर निर्भर करता है बाहर और भीतर एक ही जीवन के दो छोर हैं एक जीवन भीतर और एक जीवन बाहर ऐसे दो जीवन नहीं है जीवन तो एक है और उस जीवन की दो छोर है उसका फैलाव है भीतर तक और बाहर तक और ये संयोग था और इकट्ठा है इसलिए अंततः बाहर और भीतर ऐसी दो सीमाएं नहीं है दो खंड नहीं है न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऐसे दो खंड जिन लोगों ने जीवन को इन दो हिस्सों में तोड़ा उन्होंने भी भारी नुकसान पहुंचाया क्योंकि कि कुछ लोगों ने कहा कि असली जीवन बाहर है जैसे दुनिया भर के भौतिकवादी है मेटेरियलिस्ट है सुखवादी है हेडोनिस्ट है आज का वैज्ञानिक है उन सब की दृष्टि यह है कि बाहर ही जीवन है भीतर कुछ भी नहीं दूसरे कुछ लोग हुए धार्मिक लोग योगी दार्शनिक मिस्टिक उन्होंने जोर दिया कि जीवन भीतर है बाहर कुछ भी नहीं और इन दोनों ने ही जीवन को नुकसान पहुंचाया क्योंकि जीवन दोनों ही है जिन्होंने जोर दिया कि भीतर ही जीवन उन्होंने कहा बाहर को छोड़ो और भीतर को पकड़ो और बाहर को छोड़ते छोड़ते वे उस जगह पहुंचे जहां भीतर पकड़ने को कुछ भी नहीं बचता क्योंकि जिसे वे भीतर कहते हैं वो बाहर से ही जुड़ा हुआ है और इस तरह बाहर छोड़ते छोड़ते छोड़ते छोड़ते सिवाय मृत्यु के और जड़ हो जाने के और कुछ भी शेष नहीं रह तो ऐसे लोग सुसाइडल हैं सिद्ध हुए वो आत्मघाती सिद्ध हुए छोड़ने छोड़ने छोड़ने उन्होंने अंत पाया कि सब चला गया कुछ भी नहीं बचा बच ही नहीं सकता क्योंकि दो चीजें नहीं है कि हम एक को छोड़ सकते जैसे एक रुपए का दो पहलू और मैं कहूँ कि मैं एक हिस्से को तो बचाऊंगा और दूसरे हिस्से को फेंकूंगा तो मैं दूसरे हिस्से को फेंकू तो पूरा रुपया फेंक जाए और मेरे हाथ में कुछ भी ना रह जाए तो भीतर को बाहर के विरोध में सोचने वाले लोगों बाहर को छोड़ने में सब खो दिया भीतर भी कुछ ना बचा एक रिक्तता एक एम्प्टीनेस बचे रह गए जो जीवन का अभाव तो दूसरी तरफ वे लोग ने जिन्होंने कहा बाहरी जीवन है तो उन्होंने कहा भीतर कुछ भी नहीं भीतर को छोड़ो और भीतर को वे जितना छोड़ते चले गए उन्होंने पाया कि बाहर भी कुछ न बचा सिर्फ मीनिंगलेसनेस सिर्फ अर्थहीनता बची क्योंकि वो जो जीवन है वो इकट्ठा है भीतर को अलग करने में वो बाहर भी अलग हो गया जीवन बचता है तो पूरा जाता है तो पूरा इसलिए एक इंटीग्रेटेड व्यू चाहिए जहाँ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बाहर और भीतर तो नहीं बल्कि एक है तो इन पुरानी चिंतनाओं के ये दो पहलुओं ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया इन्होंने इस तरह नुकसान पहुंचाया कि जीवन को दोनों तरफ से नष्ट किया एक स्थिति में रिक्तता रह गई दूसरी स्थिति में आर्थिकता रह गई अगर हम पूरब के मुल्कों की जिन्होंने भीतर पर जोर दिया सारी किताबें उठाकर देखें तो एक ही बात दिखाई पड़ती है जीवन व्यर्थ है जीवन दुख है जीवन आसार है और जीवन से कैसे छूटे बस यही एक कामना दिखाई पड़ती सब छोड़ दिया बाहर उसमें सब जीवन भी छूट गया अगर आज हम पश्चिम की पूरी मनस्थिति के भीतर प्रवेश करें तो दिखाई पड़ता है जीवन अर्थहीन है किसी चीज में कोई अर्थ नहीं सब एब्सर्ड है ये करना भी ठीक है वो करना भी ठीक है ना इस करने में कुछ फायदा ना उस करने में कुछ फायदा सब धन व्यर्थ है सब शक्ति व्यर्थ है सब साधन व्यर्थ है पश्चिम ने दूसरा प्रयोग करके देख लिया कि जीवन बाहर है और भीतर कुछ हो गया तो सब अर्थहीन हो गए मेरी दृष्टि में जीवन एक तरलता है एक लिक्विडिटी है एक लहर है जो भीतर और बाहर के दोनों छोरों को छूती रहती है और जो इसको दोनों को इकट्ठा पकड़ेगा वही जीवन के परम साथ को उपलब्ध हो सकता जिन लोगों ने बाहर और भीतर में बांटा उन्होंने साध्य और साधन को भी बाहर भीतर में बांट दिया उन्होंने कहा बाहर का जीवन उपलब्ध करना है तो बाहर के साधन है और भीतर का जीवन उपलब्ध करना है तो भीतर के साधन उन्होंने ये भी कहा कि बाहर के साधनों का भीतर उपयोग नहीं होगा उन्होंने ये भी कहा कि भीतर के साधनों का बाहर उपयोग नहीं होगा अब जिस आदमी को आत्मा को पाना है उसे भोजन की क्या जरूरत है क्योंकि भोजन तो बाहर का साधन है और जिस आदमी को आत्मा को पाना है उसे मकान की क्या जरूरत है और जिस आदमी को आत्मा को पाना है उसे कपड़ों की क्या जरूरत है ये सब तो बाहर की चीज है जिन लोगों ने भीतर पर जोर दिया उन्होंने बाहर जो भी है सबको इनकार कर दिया चाहे वे कपड़े हो चाहे मकान हो चाहे संबंध हो मित्रता हो प्रेम हो समाज हो सब इनकार कर दिया वो एक कसौटी मान के चले कि जो भीतर का नहीं है उसे जाने दो उससे क्या लेना देना है अंततः उनके हाथ खाली रह गए भीतर कुछ भी नहीं भीतर जैसा कुछ है ही नहीं अलग बाहर से भीतर आइसोलेटेड बाहर से तोड़ के अलग खंड करके कुछ है ही नहीं इन सारे लोगों ने बाहर की सारी चीजों को छोड़ने पर जोर दिया स्वभावता समाज एक बहुत गहरी दुख दरिद्रता और दीनता में पड़ गया क्योंकि कपड़े एकदम बाहर है ऐसा कहना गलत है जब मैंने कहा कि जीवन इकट्ठा है तो जीवन में जो बाहर है और जो भीतर है वो भी इकट्ठा है अब जिससे मेरा मानना है कि कपड़े भी एकदम बाहर नहीं है क्योंकि कपड़े भी हमारा एक्सटेंशन है वो भी हमारा फैलाव है कपड़ों के द्वारा भी हमने अपने शरीर को और फैलाया है अब ये जान के हैरानी होगी कि जो आदमी नग्न रहता है और जो आदमी पूरे कपड़े पहनता है नग्न आदमी को 40 प्रतिशत भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि नग्न आदमी का शरीर इतनी शक्ति व्यर्थ वायुमंडल में खो देता है इसलिए उसे 40 प्रतिशत ज्यादा भोजन की जरूरत है जो आदमी ठीक से पूरे कपड़े पहने हुए हैं उसका कम भोजन में काम चलेगा और एक और मजे की बात है जो आदमी ठीक से पूरे कपड़े पहने हुए उसे सेक्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और भोजन की कम इसलिए पश्चिम में जहाँ कपड़े बहुत विकसित हुए सेक्स ज्यादा हो गया और भोजन की जरूरत कम हो गई जरूरत कम हो गई और सेक्स की जरूरत बढ़ गई उसका कारण कि उसके पास इतनी शक्ति इकट्ठी हो जाती है कि उसे सेक्स में उस शक्ति से मुक्ति चाहिए अब कपड़ा इतनी बाहर की चीज नहीं रह गई क्योंकि कपड़ा भोजन भी तय करेगा सेक्स भी तय करेगा और भोजन और सेक्स मन को भी तय करेगा और मन भीतर घुसता चला जा रहा है कोई चीज इतनी बाहर नहीं है मकान भी जिसे हम कहते हैं वो भी इतना बाहर नहीं सच तो ये है कि अगर व्यक्ति को ठीक बोध हो किसी व्यक्ति को वो किसी के भी मकान में जाकर उस आदमी के संबंध में इतना जान सकता है जितना उस आदमी के भीतर जाके जान संभव हो सकता है एक आदमी के मकान में जाकर हम उस आदमी के संबंध में कुछ जानते हैं एकदम क्योंकि अंततः वो मकान उस आदमी का बड़ा शरीर है वो उस मकान में गंदगी से रह रहा है तो हम जानते हैं कि वो आदमी भीतर गंदगी के प्रति उसका कोई विरोध नहीं है अगर वो आदमी कुरूपता में रह रहा तो हम जानते हैं अगलीनेस और कुरूपता के प्रति उसका कोई विरोध नहीं है सौंदर्य का कोई भाव उसके भीतर नहीं अब सौंदर्य का भाव तो भीतर है और मकान बाहर है मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें इतनी अलग नहीं अगर हम उसके घर में जाते हैं और हम वहां जाके देखते हैं कि उसने फूल लगा रखे हैं और हम देखते हैं उसके घर में ताजगी है एक सुगंध है हम देखते हैं उसके घर में सफाई है और हम देखते हैं उसके घर में तो चित्र लटके हुए तो उस आदमी के बाबत हमें सारी खबर देते हैं हम जाके देखते हो उसके घर में क्या है क्योंकि अंधता वो उसी आदमी ने रखा है और हमारा कोई एक्ट हमारी कोई क्रिया हमसे मुक्त नहीं है और हमारी कोई भी क्रिया हमको प्रकट करती है और खोलती है एक घटना में कहूँ विवेकानंद अमरीका जाने को थे रामकृष्ण को तो मर गए थे तो वो शारदा माँ से आशीर्वाद लेने गए तो शारदा उस समय अपने चौके में खाना बनाने उन्होंने विवेकानंद ने कहा कि मैं जाता हूँ अमरीका मुझे आशीर्वाद दें तो साधु ने पूछा किस लिए जाते हो तो विवेकानंद ने कहा कि प्रेम का एक संदेश पहुंचना साधु ने कहा वो अच्छा। छुरी जो पड़ी है वो उठाकर मुझे दे विवेकानंद ने छुरी सहजी उठाकर दे दी उनकी कल्पना भी मिला था कि मेरे आशीर्वाद का और छुरी के देने उठाने से कोई संबंध मेरे आशीर्वाद मांगने का इसका कोई संबंध हो सकता लेकिन विवेकानंद ने फलक छुरी का हाथ में पकड़ा और डंडा सारदा माथे साधना ने हंस के वो छुरी रख ली और कहा कि मेरा आशीर्वाद जाओ तुमसे किसी का अहित नहीं होगा तब विवेकानंद के गुण से ख्याल आया उन्होंने पूछा कि छुरी उठाने से कुछ संबंध था शारदा ने कहा निश्चित क्योंकि तुम जो करते हो उसमें तुम मौजूद हो मैं देखती थी कि तुम छुरी का फलक मेरी तरफ पकड़ाते हो या तुम खुद पकड़ते क्योंकि जिस आदमी के मन में प्रेम हो वो छुरी का फलक खुद पकड़े कि कहीं दूसरे को चोट पहुंच जाए अब ये बहुत हैरान की बात है आम तौर से ही किसी भी आदमी से हम छुरी उठाने को कहेंगे तो वो फलक हमारे दर्द करेगा और डंडा अपने हाथ में पकड़ेगा बिल्कुल सहज शायद ख्याल में भी उसे नहीं आएगा ना हमें भी ख्याल में आएगा लेकिन उस आदमी के बाबत खबर मिल रही है उसके छोटे से कृत्य में इस छुरी के उठाने में वो पूरा मौजूद ध्यान रहे कि हमारे छोटे से छोटे कृत्य में भी हम पूरे मौजूद होते पूरे उसमें जरा सा भी हिस्सा हमारा पीछे नहीं रह जाता आंख के एक छोटे से इशारे में और हाथ के उठने और गिरने में भी हम पूरे मौजूद होते हैं हमारा सब छोटा से छोटा काम भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को समाहित रखता है इसलिए क्या बाहर है और क्या भीतर है छुरी उठाना तो बाहर है कैसे उठाना ये आदमी के भीतर है अब इन दोनों में कहा से फर्क करेंगे हम कहा तय करेंगे कौन सी चीज बाहर होगी कौन सी भीतर होगी इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन की कोई भी चीज एकदम ऐसी नहीं है कि उसे बाहर कह दें और ऐसी भी नहीं है कि उसे भीतर कह दें वे दोनों संयुक्त से जुड़े और जीवन एक सेतु है जो बाहर और भीतर के बीच प्रतिपल कंपित होता रहता है तो जिन लोगों ने इंकार कर दिया बाहर को उन लोगों ने बाहर की विषयों को इंकार कर दिया कपड़े और मकान सब गए संबंध मित्रता सब गए उन्होंने कहा व्यक्ति अकेला हो जाए बस उतना ही बचे जितना भीतर है उतना ही बचा है जितना भीतर है एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसमें इलिमिनेट करना है काटना है काटना है काटना है ये भी बाहर ये भी बाहर आखिर में आदमी पाता है कि सब कट गया और सब खो गया और जीवन भी गया और कुछ भी पीछे नहीं बच जाता है इस स्थिति को मैं मोक्ष नहीं कहता इस स्थिति को मैं सिर्फ मृत्यु कहता और चूंकि ये स्थिति अपने ही हाथ से लाई गई इसको मैं आत्मघात कहता हूँ सुसाइड कहता अब एक दूसरी दौड़ है जिसमें बाहरी सब कुछ का भाव है तो उसमें चिंता नहीं है भीतर के आदमी की तो मकान कैसा हो इसकी चिंता है सारी चिंता इसकी है कि मकान कैसा रहने वाले का भी कोई संबंध है मकान से रहने वाला तो है ही नहीं क्योंकि भीतर हम कुछ मानते नहीं तो मकान कैसा हो ये विचार नहीं है तो सारा विचार मकान बनाने में लगा चाहे मकान बनाने में मकान बनाने वाला खत्म हो जाए सारा विचार इसका है कि कपड़े क्यों <coughs> तो कपड़े अच्छे से अच्छे पैदा कर लो चाहे कपड़े पैदा करने में इकट्ठा करने में कपड़े पहनने वाले का पता रहे या ना रहे तो एक इससे ठीक उल्टी अति पर एक दूसरी दौड़ है जो सारी चीजों का जोर देती है कपड़ा कैसा हो मकान कैसा हो भोजन क्या हो क्या ना हो <clears throat> कितना धन हो कितना धन ना हो ये दौड़ भीतर के आदमी को इनकार करती है वो जब किसी आदमी को इस दौड़ का आदमी मिलता है तो पूछता तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है क्योंकि तुम्हारा धन कितना है तिजोड़ी में या बैंक में उसी से तुम्हारा पता चलता है कि तुम कौन यानी ये बाहर तरफ जोर देने वाला ये ये नहीं पूछता कि तुम्हारा बीन क्या है ये पूछता तुम्हारी हैविंग क्या है तुम क्या हो ये सवाल नहीं है तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास अगर कीमती कार है तो तुम आदमी कीमती हो क्योंकि भीतर तो कुछ है ही नहीं कीमती कार से पता चलता है कि तुम कीमती आदमी हो तुम्हारे कपड़े कीमती हैं तो तुम कीमती आदमी ये जरूरी नहीं है कि कीमती कपड़े के भीतर कीमती आदमी हो ये भी जरूर नहीं कि कीमती कार के भीतर कीमती आदमी हो ये भी जरूर नहीं कि कीमती पत्तों पर कीमती आदमी में हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है बल्कि अगर हम इस भांति भीतर के आदमी को बिल्कुल इंकार कर दें और इन्हीं चीजों पर ज्यादा जोर दे दें तो इस बात की संभावना यह है कि कीमती आदमी इन जगहों पर मिले ही नहीं क्योंकि कीमती आदमी इतना जोर इन चीजों पर नहीं दे सकता है एक कीमती आदमी दीन पर जोर देगा हैविंग पर जोर नहीं होगा क्या मेरे पास है ये उतना मूल्यवान नहीं होगा उसके लिए कि मैं क्या हूं वो इसकी फिक्र नहीं करेगा कि मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो ही मैं कुछ हूं राष्ट्रपति होना अत्यंत गौण बात होगी वो राष्ट्रपति हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ये उसकी दौड़ नहीं हो सकती अगर उसके जीवन की फैसधारा में ये होना आ जाए तो वो भी सकता है ना आए तो इसकी वो चिंता भी नहीं कर सकता शायद ऐसा ही आदमी तो कीमती हो सकता है जिसके लिए पद कीमती है वो आदमी कीमती नहीं हो सकता आदमी कीमती हो तो पद दो कौड़ी का होने वाला है और कीमती आदमी पद पर होने के लिए पागल नहीं हो सकता क्योंकि वो पागलपन सिर्फ हीन आदमी को पैदा होता है इंजीनियरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरी पैदा होता है और जिस आदमी के भीतर कोई हीनता का भाव नहीं वो किसी भी पद से ऐसे उतरते जा सकता है जैसे कुछ बात नहीं फिर ये जो हमें बाहर पर इतना जोर है बाहर पर ही अकेला जोर है और भीतर के आदमी को बिल्कुल इंकार करते हैं तो चीजें बच जाती हैं जीवन नष्ट हो जाता है और चीजों का उपभोक्ता नष्ट हो जाता है तो ऐसा हुआ है कि इसको हम कहें उपभोग की सामग्री तो बढ़ती चली गई लेकिन कंज्यूमर वो जो उपभोग कर सकता था वो धीरे धीरे विदा हो गया चीजें बढ़ती चली गई उनका ढेर लग गया और जिस आदमी के लिए उन्होंने ढेर लगाया था उसको कहीं पता नहीं चलता कि वो आदमी कहा और किस लिए हमने ये ढेर लगाया और ध्यान रहे जैसा मैंने कहा कि चीजें इतनी जुड़ी हैं कि बाहर पर अगर इतना जोर होगा तो ये चूंकि चीजें बाहर ही नहीं है इनका अंतिम परिणाम भीतर होने वाला है छोटी छोटी घटनाओं का परिणाम है मैंने सुना है कि अफ्रीका के गांव में यूनेस्को की तरफ से नल लगाए गए पानी के नल लगाए गए उस गांव में अब तक सिर्फ एक कुआ था लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव के गुणों ने आके खबर की कि हम क्षमा चाहते हैं ये पाइप अलग कर दिया जाए क्योंकि हमारी गांव की सारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई तू तो बहुत हैरान हुए जिन लोग जो लोग वहां व्यवस्था कर रहे थे लेकिन क्या पागलपन की बात कर रहे हो उनका बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई कुआ तो हमारा प्राण था वहां हम मिलते थे वही सुबह हमारी सारी स्थितियां मिलती थी सांझ हमारा गाँव भी वही बैठ के गपशप कर वो कुआ तो बर्बाद हो गया वहां कोई नहीं रखा तो हर एक घर में पानी पहुंच गया तो वहां कोई आते तो हमारी तो पूरी कम्युनिटी फीलिंग खत्म हो गई यानी हमारा तो जो समूह था हम जो एक साथ जीते थे वो खत्म ही हो गया एक एक आदमी अलग अलग हो गया हमारा शरीर पाइप भी बिल्कुल नहीं चाहते मैं ये कह रहा हूं कि पाइप जैसी बाहरी चीज भी एक समाज के जीवन व्यवस्था पर एक आदमी के चित्र के फर्क लाएगी लाने वाली हमें ख्याल नहीं होता कि क्योंकि चीजें कोई बाहर नहीं है अब मैं ये नहीं कहता कि वो गांव के लोग ठीक ही कह रहे हैं मैं ये कहता हूँ ये परिणाम हुआ मेरा तो मानना ये है कि इसका फायदा उन्हें लंबे अरसे में पता चलेगा क्योंकि जब तक कुआ है तब तक व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते उस गांव में तब उस गांव में कम्युनिटी घर होगी इंडिविजुअल्स नहीं लेकिन जब घर घर में नल पहुंच जाएंगे तो व्यक्ति पैदा होने शुरू हो जाएंगे ये बड़े मजे की बात है कि पुरानी दुनिया में व्यक्ति थे ही नहीं या कभी होते थे तो बहुत मुश्किल मामला था समाज ही था क्योंकि जो इंतजाम था वो ऐसा था कि उसमें समाज में ही आपको जीना पड़ता जैसे एक जमाना था कि अगर एक आदमी गड़बड़ करता तो उसका कुएं पर पानी निकालना बंद कर दिया जाता वो आदमी मर जाता वो आदमी जी नहीं सकता था क्योंकि कुएं पर पाना पानी जाना उसकी मनाही हो गई गाँव में हो गया कि आदमी कुएं पर पानी नहीं तो आदमी मर जाता कुएं के बिना तो जीना मुश्किल था आज वो गांव से पूछने नहीं जाता कि आप पानी दोगे कि नहीं दोगे कुएं से कोई लेना देना नहीं है उसके पास अपना व्यक्तिगत व्यवस्था है आज उसके पास अपना नल है ये मैं नहीं कहता मैं ये कह रहा हूं कि बाहर की कोई भी व्यवस्था भीतर की व्यवस्था को छुएगी और बदलेगी क्योंकि तो भीतर और बाहर दो अलग चीजें नहीं अब हमें पता ही नहीं है कि कितनी छोटी छोटी चीजें बाहर की भीतर हमें फर्क लिया एक कंफ्यूज के जीवन में उल्लेख ये कंफ्यूज एक गांव के पास से गुजर रहा है एक बगीचे में दोपहर को रोका तो बड़ा हैरान हुआ क्योंकि बगीचे में बूढ़ा माली अपने जवान बेटे को दोनों बैल की तरह मोट में जुटे हुए हैं और पानी खींच रहे हैं जहां की बैल या घोड़े जुटे जाने लगे थे तो कंफ्यूज ने सोचा कि शायद इस बूढ़े को अभी तक पता नहीं चला कि ये तो बात बदल गई है अब कहाँ का पुराना हत्या किए हुए अब तो घोड़े या बैल जोत के काम चल सकता है और अगर घोड़े और बैल भी ना जोत रहे हों तो भी ढेंकी का एक उपाय हो गया है कि बड़ा पत्थर लटका के और पानी बाहर खींचा जा सकता है आदमी को श्रम करने की जरूरत नहीं कंफ्यूज उस बूढ़े के पास गया उससे जाकर कहा कि क्या मेरे मित्र तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि अब तो घोड़े और बैल जोते जाने लगे और अब तो हम बड़ा पत्थर बांध के भी ढेंकी से पानी खींच सकते लेकिन मैं सोचता हूं तुम्हें शायद पता नहीं चल पाया शायद तुम्हें मालूम नहीं है उस बूढ़े आदमी ने कहा सब मुझे मालूम है लेकिन जरा धीरे बोलो मेरा जवान लड़का ना सुन रहे तो कंफ्यूजन से था इसमें क्या डर की बात है तुम्हारा जवान लड़का सुन रहे तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि इसके बहुत डर के कारण है मैं तो बुरा आदमी हूं लेकिन अगर मेरे जवान लड़के को अभी से ख्याल आ जाए कि पैर झूठने तो वो अभी से पूरा हो जाए अभी से पूरा हो जाए आलसी हो जाएगा प्रमादी हो जाएगा ये बात मत करो और फिर उस बूढ़े ने कहा कि मेरा ये भी मानना है कि जो लोग पत्थर इत्यादि बांध के बांध खींचते हैं जो लोग भी किसी यांत्रिक व्यवस्था का उपयोग करते हैं यंत्र के साथ धीरे धीरे वो भी यंत्र हो जाते हैं और उनका हृदय कठोर हो जाता है और धीरे धीरे जो लोग इस तरह की चालाकियों को क्योंकि उसमें कई चालाकियां हैं कमिंगनेस से जो इस तरह की चालाकियों को उपयोग करते हैं वो तो आदमी बेमान हो जाता है तो हम ठीक है हम दिन भर मेहनत कर लेते हैं ये बूढ़ा जो कह रहा है ये ठीक हो या ना हो इससे हम राजी हो या ना हो मैं खुद भी इससे राजी नहीं हूं लेकिन ये जो कह रहा है उसमें एक सार की बात तो कह रहा है कि जो बाहर होता है उसके संबंध भीतर से जुड़े हैं सच तो यही है कि मनुष्य का जितना आविष्कार हुआ है लोग कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है necessity is the mother of invention मैं नहीं कहता मैं तो कहता हूं आलस्य आविष्कार की मनुष्य को कितना कम श्रम करना पड़े यही सारे आविष्कार को जगड़ाता है मैं बिना चले कैसे आपके घर पहुंच जाऊं इससे गाड़ी आती है कार आती है जेट आता है मैं बिना कुछ किए कैसे कुछ हो जाए आदमी श्रम नहीं करना मैं इसको बुरा भी नहीं कहता इसको मैं बुरा भी नहीं कहता मैं कोई श्रम भक्त नहीं हूं मैं इसको बुरा भी नहीं कहता इसको मैं ठीक ही कहता हूँ क्योंकि मेरा मानना यह है आलस्य में कुछ कारण है और ये ठीक आलस्य नहीं है असल में आदमी जितना बचना चाहता है व्यर्थ से है उतनी ही सार्थक दिशा में गति कर सकता है और इस दुनिया में जो भी श्रेष्ठतम हुआ है चाहे संगीत चाहे साहित्य चाहे दर्शन चाहे धर्म चाहे साधना वो उन लोगों के लिए उनके द्वारा हुई है जो लीजर में थे जो विश्राम में थे ये कोई गड्ढा तोड़ने वाले पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने न तो कोई संगीत पैदा किया न करने का सवाल है न उसने कोई बुद्ध पैदा किए न कोई क्राइस्ट पैदा किए न करने का सवाल है ये तो लीडर क्लास वो जो विश्राम में एक वर्ग पहुंच जाता है या कोई व्यक्ति विश्राम में पहुंच जाता है तो उस विश्राम में जहाँ की व्यर्थ श्रम से बच जाता है वो तो उसकी चेतना नए आयाम छूना शुरू करती है But Acharya I have learned that there are four types of motions. One is called a physical motion, intellectual motion, emotion motion, and other is wisdom. Maybe that the man who is remaining in the leisure state of leisure, his intellectual capacities or emotional capacities may be stimulated so that he may shift from one plane and may go to other plane. यही मैं जा रहा हूँ यही मैं कह रहा हूँ मनुष्य को उसकी शक्तियाँ कितने ऊंचे आयामों में हायर डायमेंशन में गति कर सके इसलिए जरूरी है कि उसे नीचे के आयामों से मुक्ति मिल जाए तो मैं ये नहीं कहता कि उस बूढ़े आदमी ने कन्फ्यूशियस को जो उत्तर दिया वो ठीक था मैं बूढ़े से राजी नहीं होता हालांकि मैंने सुना कि कन्फ्यूशियस से राजी हुआ मैं उस बूढ़े से राजी नहीं होता गांधी उस होते तो उससे राजी होते मैं उससे राजी होने वाला नहीं था क्योंकि मेरा मानना यह है कि वो बूढ़ा अपने बेटे को हो सकता है प्रमाश से बचा दे लेकिन प्रमाद से बचा के भी क्या करेगा वो बेटा बैल की जगह जुता जुता मर जाएगा और हो सकता है वो ये सोच रहा है कि अगर यंत्र से बेटा उपाय करेगा तो यंत्र हो जाएगा तो वो बैल की जगह बैल की तरह जुट के बैल नहीं हो जाने वाला ये उसको ख्याल में नहीं है और मेरा मानना है कि यंत्र का उपयोग करना भी किसी पशु के लिए संभव नहीं है वो सिर्फ आदमी के लिए संभव है सिर्फ आदमी के लिए संभव है इसलिए बैल होने की बजाय यंत्र का उपयोग सार्थक है अर्थपूर्ण फिर ये भी मैं मानता हूं कि उस बूढ़े बाप का अपने बेटे पर बहुत भरोसा नहीं है यानी वो मान ये रहा है कि बेटे को अगर इतनी निम्न चीजों में लगाया जा रखे तो ही उसे ठीक रखा जा सकता है इससे मुक्त होते उसकी कोई श्रेष्ठ गति नहीं हो सकती शायद गांधी जी को भी इस तरह का भरोसा नहीं है आदमी पे इनका भरोसा नहीं मालूम होता है क्योंकि अगर आदमी तो भरोसा है तो ये मानना चाहिए कि हम उसे जितनी स्वतंत्रता जितनी श्रम मुक्ति देंगे उतना ही ज्यादा आदमी विकसित हो सकेगा आदमी के विकास में उसके पास सीमित शक्ति है उसको हम व्यर्थ न होने का कारण बने उसे हम संरक्षित करें मैं जो कह रहा था जिस संदर्भ में ये बात कह रहा था वो मैं ये कह रहा था कि बाहर हम जो भी करते हैं वो भी अंधता भीतर प्रविष्ट हो जाता है भीतर जो हम करते हैं वो बाहर चला जाता है असल में भीतर बाहर जैसी कोई सीमा नहीं है यहाँ भीतर और बाहर एक ही जीवन धारा के दो हिस्से हैं इसलिए जिन लोगों ने इस तरह के भीतर बाहर subjective objective spiritual material inner और आउट इस तरह के जो भेद किए हैं वे भेद गलत है और उन भेदों की वजह से एक लंबी भ्रांति की परंपरा पैदा हुई है उसमें कुछ ने बाहर के सब साधनों का इनकार कर दिया क्योंकि वे कहते हैं हमें भीतर का साध्य पाना है और भीतर का कोई साध्य नहीं है बाहर का कोई साध्य नहीं साध्य है और साधन है जिन लोगों ने कहा कि भीतर है ही नहीं उन्होंने कहा भीतर के साधन से कोई मतलब नहीं प्रेम का हम क्या करेंगे करुणा से हमें क्या प्रयोजन है आत्मा परमात्मा और प्रार्थना का क्या मतलब है हमारे लिए सवाल है बाहर के भी बहुत धन पैदा करना है तो बहुत धन पैदा करने में प्रार्थना क्या करेगी और बहुत धन पैदा करने में करुणा क्या करेगी बहुत धन पैदा करना है तो गणित सीखो बहुत धन पैदा करना है तो मशीन बनाओ बहुत धन पैदा करना है तो महत्वाकांक्षी बनो और महत्वाकांक्षी वो बन सकता है जो करुणावान न हो अगर करुणावान है तो महत्वाकांक्षी कैसे होगा क्योंकि महत्वाकांक्षा में दूसरों को पीछे घसीटना पड़ेगा दूसरों की गर्दन पर सिर उनके सिर पर पैर रख के सीढ़ी बनानी पड़ेगी और दूसरों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा दूसरों को साधन बनाना पड़ेगा करुणा क्या करोगे तो जिन्होंने कहा कि बाहर के साध्य है समृद्धि है सफलता है सुख है ये जिन्हें पाना है उनको भीतर भीतर की बातें छोड़ देनी चाहिए भीतर कुछ भी नहीं है और इस तरह मनुष्य को इस भांति खंडित किया कि न वो बाहर रह गया न वो भीतर रह गया वो दोनों जगह समा गया भीतर बचाने वाले लोगों ने भीतर मार डाला बाहर बचाने वाले लोगों ने बाहर मार डाला आदमी के साथ अब तक तो व्यवहार हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सात साधन है और अब हमें इस भाषा में सोचना चाहिए कि ये अखंड है ऐसा कोई साधन नहीं है जो चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो और ऐसा कोई साधन नहीं जो चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो जो कि अंतर निर्भर नहीं इंटरडिपेंडेंट नहीं वो सब जुड़े हुए हैं हम क्या करते हैं वो हमारे भीतर से आता है और हम क्या भीतर हैं वो हमारे करने को प्रभावित करता है ये दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर और एक साथ उठी हुई है सच कहना चाहिए तो ऐसा कि ये दोनों बातें एक ही चीज के दो हिस्से और इनको अलग नहीं किया जा सकता इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा कि कि ये ये फासला भी भीतर और बाहर का मत करें और साध्य और साधन का भी मत करें इंटीग्रेटेड एटीट्यूड इस तरह के कोई फासले नहीं मानता और विज्ञान और धर्म का भी फासला मत करें क्योंकि वो सब फासले उसी तरह के धर्म का मतलब है कि भीतर के साथियों की दुनिया का हिसाब विज्ञान का मतलब है बाहर के साथियों की दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि में जैसे जैसे आदमी विकसित होगा समझ पड़ेगी वैसे वैसे ज्ञान रह जाएगा ज्ञान विस्तम रह जाएगी वो ज्ञान बाहर के अभुग होगा तो हम उसे विज्ञान कहते रहेंगे वो भीतर का होगा तो उसको अंतर ज्ञान कहते रहेंगे बाहर ज्ञान होगा अंतर ज्ञान होगा ये सिर्फ काम चलाऊ खंड होंगे धर्म कहे विज्ञान कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ज्ञान रह जाए और ज्ञान जो है वो सारे जीवन को घेरेगा वो छोटी सी बाहर की चीज से लेकर भीतर की बड़ी से बड़ी चीज तक भीतर के छोटे से विचार से लेकर बाहर के बड़े से बड़े आकाश तक इन सबको जोड़ के एक साथ ही देखेगा क्योंकि आदमी की समझ इतनी कम है कि इतना विराट फैलाव नहीं कर पाता आदमी उसके मस्तिष्क की पकड़ इतनी कम है कि इतने बड़े को कंसीव नहीं कर पाता इतनी सारी कठिनाई पैदा होती और वो उसको पकड़ पाए इसलिए हम उसे टुकड़े टुकड़ों में तोड़ देते हैं और धीरे धीरे वो टुकड़े ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो समझता है सब टुकड़े अलग अलग हैं जैसे इस कमरे के पास एक छोटा छेद हो और उस छेद में से एक आदमी भीतर झांके और एक छोटे से जिससे में कुछ इस कमरे के भीतर दिखाई तो वो इसको पूरा कमरा समझ गया एक दूसरा आदमी दूसरे छेद से झांके उसके कमरे का दूसरा हिस्सा दिखाई पड़ा वो इससे सब कुछ मान है अब तक दुनिया में ऐसा ही हुआ जिन लोगों ने जिस छेद से झोंका उन्हें जो दिखाई पड़ गया उन्होंने उसे टोटलिटी मान लिया उनका ये सब कुछ ये पूरा है खंड दिखाई पड़े अखंड मान लिए गए और ये अखंड मान लेना महंगा पड़ गया अब मेरा कहना है कि कोई खंड अखंड नहीं है तब एक उपाय दूसरा भी चला तब ये चला कि जितने लोगों को ये खंड खंड दिखाई पड़े वो सबको जोड़ लो तो इस तरह खंड बन जाएगा जैसा गांधी जी कहते हैं कि कुरान भी ठीक है बाइबल भी ठीक है गीता भी ठीक है सब ठीक कहते हैं कृष्ण ने देखा वो भी ठीक मोहम्मद ने देखा वो भी ठीक क्राइस्ट ने देखा वो भी ठीक अब तीनों को जोड़ लो तो ये पूरा ठीक हो जाएगा इन तीनों को जोड़ने से जो बनेगा वो पूरा ठीक हो जाएगा अब मेरा मानना यह है कि वो खंड खंड तो ठीक है ही नहीं वो तो अधूरे है ही लेकिन फिर भी सार्थक है क्योंकि एक आदमी ने जितना देखा उतना देखा है और 25 खंडों को जोड़ने से अखंड नहीं बनता 25 खंडों को जोड़ने से अखंड नहीं बनता असल में अखंड किसी खंड को जोड़ने से नहीं बनता अखंड तो पूरा दिखाई पड़े तो सब खंड उसमें दिखाई पड़ जाएंगे वो बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन खंड खंड जोड़ने से अखंड नहीं बनता बल्कि खंड खंड जोड़ने से और गड़बड़ हो जाता है ये ऐसे ही है जैसे कि हम देखें कि एक आदमी है इसमें हाथ भी है इसमें पैर भी है इसमें सिर भी है इसमें ये भी है एक सिर ले आओ किसी का काट के क्योंकि वो सिर भी वहां चलता हुआ मालूम पड़ रहा था बोल रहा था एक आदमी का पैर काट लाओ एक आदमी का हाथ काट लाओ किन्ना काट लाओ क्या आंख ले आओ और सब जोड़ क्योंकि सब खंड जोड़ के हम एक अखंड आदमी बनाते हैं तो सिर्फ एक लाश बनेगी कोई अखंड वहां पैदा नहीं होगा ये सब खंड है जरूर लेकिन खंडों पे जोड़ने से अखंड नहीं बनता अखंड के ये ऑर्गेनिक पार्ट है ये अखंड में सम्मिलित है तो मेरा मानना ये समन्वयवादी है जो कहते हैं सब जोड़ लो एक लेफ्टिक जोड़ है वो कहते हैं ये भी जोड़ लो ये भी जोड़ लो ये भी जोड़ लो सब जोड़ लो तो ये ज्यादा करीब पहुंच जाएगा सत्य के ये जितना खंड पहुंच रहा था उतना भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि इस आदमी ने किसी क्षेत्र से नहीं झांका इसने 25 क्षेत्र से झांकने वालों के ख्यालों को जोड़ के उस कमरे की नजर बना रहा है ये ऐसे होगा तो इस समझ लें कि मैं जबलपुरा हूँ आप भी जबलपुर आए और एक और मित्र जबलपुर आए और फिर हम तीनों मिले मैंने भी कुछ देखा जबलपुर में आपने भी कुछ देखा उसने भी कुछ देखा फिर हम तीनों जोड़ लें और तीनों को जोड़ के कहेंगे अब ये पूरा जबलपुर हो जाएगा ये कुछ भी नहीं होगा ये कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक एक ने जितना देखा था वो ऑथेंटिक था यानी कम से कम उसने देखा था लेकिन अभी तीनों का जो घोल तैयार होगा जो मिक्सचर तैयार होगा वो सच्चाई भी नहीं रहने वाली और जो इस घोल को पकड़ लेगा वो बहुत मुश्किल में पड़ जाने वाला है क्योंकि उसमें इसके बाहर हो जाएगा कि क्या है इन तीनों के मेल का सवाल नहीं तो मेरा कहना यह है कि सभी सत्य उस अखंड से आते हैं लेकिन किन सत्यों को जोड़ के अखंड को वापस नहीं बना सकते एक फूल खिला है उसमें सारी पखड़ियां लगी हुई है पत्ते लगे हुए हैं कांटे लगे हुए हैं फूल जिंदा है वृक्ष जिंदा है हम सारे पत्ते तोड़ डालें हम सारे फूल की पकड़ियां काट लें फिर हम जोड़े ये जरूर जोड़े थे और एक का हिस्सा थे लेकिन अब जोड़ के ये एक का हिस्सा होने वाले नहीं अब जो जोड़ बनेगा ये बात ही और होगी इसका उस फूल से कोई संबंध नहीं होगा जो था जो असलियत में था तो मेरा कहना है कि इन सबको जोड़ भी नहीं लेना है इन्हें ऐसा भी नहीं करना है कि विज्ञान और साइंस को जोड़ दो मैं ये कह नहीं रहा हूं न मैं ये कह रहा हूं बाहर भीतर को जोड़ दो मैं ये कह रहा हूं ये अलग है ही नहीं जोड़ने की बात भी जो कर रहा है वो भी अलग मान के चल रहा है उसने भी बहुत गहरे में स्वीकार कर लिया कि अलग है जैसे एक आदमी कहता गांधी जी निरंतर कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरे नाम ये वो मान के चल गए हैं ये वो मान के चल रहे हैं कि अल्लाह एक नाम है ईश्वर भी एक नाम है ये दो नाम है और ये दोनों एक है अब इसकी कोशिश में लगे हुए मेरा कहना है कि अब ये कहने की कोई जरूरत नहीं अगर ये बिकाई पा गया तब इन दोनों को एक करने की भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये अलग है नहीं अलग होने का भाव जब हम मान ले जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो हमने मान दिया कि झगड़ा शुरू हो चुका है नहीं तो इसकी बात उठाने की जरूरत नहीं जब अलग होना पक्का हो गया तब भाई भाई का नारा शुरू होता है जब दुश्मनी साफ हो गई तब भाई भाई की बातें शुरू हो गई अभी बड़े मजे की बात है जब तक दुश्मनी नहीं होती तब तक भाई भाई की कोई बात नहीं करता अगर पड़ोसी से आपका झगड़ा नहीं है तो आप कभी नहीं कहते कि हम भाई भाई हैं तो ठीक है बात का तो इससे कोई संबंध नहीं बात का लेकिन जब झगड़ा शुरू होता तब आप कहते हैं कि पड़ोसियों को भाई भाई है पड़ोसियों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए पड़ोसी को तो सगे है तो ये सारी बातें किसी झूठ पर खाली हो रही तो मेरा कहना यह कि जोड़ना नहीं है बाहर और भीतर को बाहर और भीतर अलग नहीं है ये दोनों बातें बिल्कुल ही अलग है डायमेट्रिकली भिन्न है इसका मतलब ये नहीं है कि इनको हम जोड़ के एक कर ले इसका मतलब ये कि हम ये जाने कि ये भेद गलत है एक ही है और वही फैला हुआ है I mean, there should be an educational way, I think, as, as I have understood, that you mean that a new education should be created so that people should understand these divisions. Thereby, this confusion of subjectivity, objectivity could be wiped out. Have I uh, learned correctly? ठीक है ठीक है ऐसी ऐसी एक संस्कृति की जरूरत है जो बचपन से ही भेद पैदा न करवाती हो अभेद की तरफ ले जाती हो सच तो यह है कि बच्चे के मन में पहले भेद नहीं होते भेद हम सिखाते हैं यहां तक सच है कि बच्चे को सपने में और सत्य में भी भेद नहीं होता रात बच्चा सपना देख लेता है तो सुबह रोता है रात उसके पास खिलौना था सपने में वो कहा है अभी बच्चे को ये भी पता नहीं है कि जो सपने में देखा है वो सपने है ये जो बाहर देख रहा है ये और है अभी बच्चों को जो दिखाई पड़ता है वो एक है अभी तो बच्चे को कोई भी आदमी दिखाई पड़ता है तो वो अगर अपने पिता को पिता कहता है तो उसको पिता कहेगा अभी उसे इसका फर्क करना मुश्किल है कि वो पिता नहीं है अब इसे ये भी पता नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है अभी उसे कुछ भी पता नहीं अभी वो अभेद की दुनिया में है लेकिन ये अभेद अज्ञानपूर्ण है एक संत फिर इसी दुनिया में प्रविष्ट होता है लेकिन तब वो अभेद ज्ञानपूर्ण है ये अज्ञानपूर्ण है इसलिए हम इसे खंडित कर देंगे संत के अभेद को हम तो खंडित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ज्ञान से आया है बच्चे अभेद से आते हैं और भेद सिखाया जाता है जरूरी है कुछ भेद सिखाना जरूरी है जीवन के लिए उपयोगी है बताना जरूरी है कि क्या जहर है और क्या अमृत और बताना जरूरी है कि कहाँ दरवाजा है और कहाँ दीवार है और ये भी बताना जरूरी है कि कहा हानि है कहा लाभ है ये सब भेद बताना जरूरी है लेकिन इन सब भेद के पीछे भी अभेद का एक भाव उसमें विकसित होता रहे यानी उसे ये भी पता हो कि कभी कभी जहर अमृत भी होता है और कभी कभी अमृत जहर भी हो जाता है उसे ये भी पता हो कि ऐसे वक्त भी है जब जहर देने से आदमी बच जाता है और ऐसा भी हो जाता है कि अमृत भी ज्यादा आ जाए तो जान ये अभेद शब्द बच्चा बड़ा होगा तो कुछ भेद सिखाने पड़ेंगे लेकिन वे भेद काम चलाऊ हैं इसका बोध भी विकसित होना चाहिए और वे भेद हम मनुष्य की सीमाओं को देख के कर रहे हैं इसका बोध भी होना चाहिए और उन भेद के भीतर एक अभेद धारा भी बह रही है चीजें भीतर से जुड़ी हैं ये भी उसको विकसित होना चाहिए हमारी जिंदगी का इम्पैक्ट आने वाले बच्चे पर इस भांति का होना चाहिए उसे जीवन अखंड मालूम पड़े जैसे उसे ये ये ये बाहर और भीतर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऐसा ना मालूम पड़े ऐसा मालूम पड़े एक ही जिंदगी है वो जो मैं खाना खाता हूँ तो वही आदमी है जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब भी वही आदमी हूँ और मेरी प्रार्थना किसी न किसी गहरे मार्ग से मेरे खाने से जुड़ी अलग नहीं हो सकती ये अंत सूत्र उसका बोध में आने लगे उसे यानी उसे ये पता चलना चाहिए इस पता चलने में कठिनाई नहीं है क्योंकि बच्चे को असल में ये होता ही ये है कि वो खाना खाते वक्त भी वही है और प्रार्थना करते वक्त भी वही है उसे देख के अड़चन ही होती है कि पिता खाना खाते वक्त और आदमी होता है दुकान पर दूसरा आदमी होता है प्रार्थना करते वक्त तीसरा आदमी होता है घर में आता है तो और तरह का आदमी हो जाता है नौकर के सामने और तरह का आदमी हो जाता है उसकी समझ के बाहर होता है अगर एक बच्चे को कहा गया है कि पिता को आदर करो क्योंकि वो वृद्ध है तो वो बूढ़े नौकर को भी आदर करना चाहता है क्योंकि अगर भारत वृद्धावस्था आदर की बात है तो फिर बूढ़े नौकर भी आदर की बात है ये हम बड़े की समझ के बाहर हो जाता है और हम कहते नहीं ऐसा नहीं है वृद्ध पिता यानी अपने पिता को आदर वो तो नौकर है और तब तो हम एक भेद खड़ा कर रहे हैं और ये वेद नौकर और पिता में खड़ा नहीं हो रहा है ये वेद उस बच्चे के भीतर दो चेहरे बना रहा है कि नौकर के साथ और चेहरा रखना है पिता के साथ और चेहरा रखना है मंदिर में और ढंग से खड़े होना है दुकान में और ढंग से बैठना है दुकान में चालाकी चाहिए मंदिर में सरलता चाहिए तो हम उसको इस तरह के खंड सिखा रहे हैं और इस तरह की परतें उसके पास खड़ी होती चली जाएंगी तो उसे भी धीरे धीरे ये भेद बड़े पक्के मालूम होने लगेंगे असल में इस भांति की व्यवस्था होनी चाहिए सारे शिक्षण की बचपन से माँ बाप के पास से लेके स्कूल यूनिवर्सिटी तक कि उसे निरंतर बीच में चीज जुड़ी हुई है इसका भाव बना ही गया बताना ही है हर दो विरोध के बीच भी कोई चीज जुड़ी हुई है भीतर वो उसे दिखाई पड़ता है और एक बात तो उसके सामने साफ ही हो जानी चाहिए कि मैं अखंड हूँ मेरा बाहर और मेरा बाहर और भीतर ऐसी दो चीजें नहीं हो सकती जो मैं बाहर हूँ वही मैं भीतर हूँ जो मैं भीतर हूँ वही मैं बाहर और तब उसके भीतर जिसको हम कहें अखंड व्यक्तित्व एक इंडिविजुएशन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हाँ असल में इंडिविजुअल का मतलब ये होता है इकट्ठा जो डिविजिबल नहीं है जिसके खंड खंड नहीं है हमारी जो समाज व्यवस्था है वो पर्सनैलिटी बना देती इंडिविजुअलिटी पैदा नहीं कर पाती वो व्यक्ति को व्यक्तित्व तो दे देती है लेकिन व्यक्ति नहीं बना पाती व्यक्तित्व का मेरा मतलब है और एक व्यक्तित्व नहीं होता उसका बहुत व्यक्तित्व होते हैं क्योंकि उसको बहुत खंड बताए गए हैं और सब खंडों में वो अलग अलग होता है और वो सब बाहर से उसके कई पर्सोनेज कई तरह के व्यक्तियों की चिपका रखता है वो अपने चारों तरफ जब जैसी जरूरत होती है तब वो वैसा आदमी हो जाता है भीतर उसके पास कोई एक व्यक्ति नहीं होता जो जो सब स्थितियों में जो सब परिस्थितियों में जो सब रूपों में बाहर भीतर मंदिर में दुकान में एक रूप रखता हो I think, sir, we have this very old culture. We have been teaching our, you see, generation since uh, last millions of years, keeping the view of aim in life. Now how it will be possible that we should, shall start from the means? Will you please throw light on that? ऐसा ही हम सदा से यही करते रहे लक्ष्य उद्देश्य साध्य को प्रथम मानते रहे और उससे हमने आदमी को बहुत तरह की परेशानियों में डाला पहली तो बात यह है कि साध्य है भविष्य में और हम है वर्तमान में और हम जब भी होंगे तब वर्तमान में होंगे और साध्य जब भी होगा तब भविष्य में होगा साध्य कभी वर्तमान में नहीं हो सकता होगा ही भविष्य में और हम भविष्य में नहीं हो सकते हम जब होंगे तब वर्तमान में होंगे तो एक ऐसा टेंशन हम पैदा कर रहे हैं जिसका कभी मिलन होने वाला नहीं है और एक ऐसी आदमी के भीतर पागल एंजाइटी पैदा कर रहे हैं जो कभी हल नहीं होगी क्योंकि उसका काव्य सदा कल होगा और वो आज होगा और कल और आज का कहीं कोई मेल नहीं होता क्योंकि कल जब आएगा तो आज बन जाएगा और साध्य और आगे कल चला जाएगा और तब एक व्यक्ति जिंदगी भर जैसा है वैसा ही जिएगा और वो जो साध्य का ख्याल है वो भी साथ में उसको टॉर्चर करेगा और परेशान करेगा अगर एक आदमी हिंसक है तो वो हिंसक रहेगा और अहिंसा साध्य होगी और वो कहेगा कि कभी अहिंसक हो जाना है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म कभी ना कभी अहिंसा को उपलब्ध करना है तो रहेगा हिंसक क्योंकि आज जीना तो आज है और अहिंसा तो कल हो सकती है तो कल होने वाली अहिंसा को वो कल छोड़ता रहेगा पोस्टपोन करता रहेगा तो साधने एक तो खूबी की बात यह की कि हर आदमी को जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसको स्थगित करने की तरकीब दे तो वो कहता अहिंसक आज तो हो नहीं सकते मैं तो अहिंसक हूँ होगी तो।, तो धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करूंगा साधना करूंगा प्रार्थना करूंगा योग करूंगा संन्यास लूंगा इस जन्म में नहीं अगले जन्म में नहीं तो फिर और अगले जन्म में तब कहीं जाके अहिंसक हो पाऊंगा कोई छोटी चीज तो है नहीं कि आज हो जाए तो कल पर टालने की एक सुविधा मिल गई है और जब साध्य कल पे टल गया तो मैं जो आज हूँ वही रहूंगा मैं क्या कर सकता हूँ मेरा कसूर भी नहीं साध्य आज तो होता नहीं पूरा तो मैं जो हूँ हिंसक हिंसक रहूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी हिंसक है हिंसक रहेगा अहिंसा साध्य रहेगी जिसको अपने मंदिर में लिखेगा अहिंसा परमो धर्म ये परम धर्म है इसको उपलब्ध करना है इसको पुराने तीर्थंकर उपलब्ध कर चुके हैं इसको हमें भी उपलब्ध करना है वो कहानी भी ऐसी लिखता है कि महावीर भी जन्मों जन्मों में जन्मों जन्मों में श्रम करके फिर अहिंसा को उपलब्ध हो वो अहिंसा जो है वो है भविष्य सदा और हिंसा मैं हूं अभी अब मेरा कहना यह है कि साध्य की दृष्टि पहले तो स्थगन देती है पोस्टपोनमेंट देती है जो बहुत खतरनाक है दूसरी बात साध्य की दृष्टि एक तरह का सप्रेशन देना शुरू करती है आदमी को एक तरह का दमन देना शुरू करती है मैं हिंसक हूँ और अहिंसक होना है तो मैं क्या करूं तो हिंसा को दबाऊं अहिंसा को ओढ़ू और क्या उपाय हो सकता है फिर चूंकि मैं हिंसक हूं तो अहिंसा ओढ़ने में भी मेरी हिंसा तो मौजूद रहेगी यानी ये बड़े मजे की बात है कि मैं अहिंसक होने में भी हिंसा का पूर्ण उपयोग करूंगा अगर मुझे अहिंसक होना है मुझे लगता है कि पत्नी की वजह से अहिंसक नहीं हो पा रहा तो पत्नी को छोड़ के बाहर जाऊंगा और पत्नी भूखो मर जाएगी बच्चे सड़क पे भीख मांगेंगे और मैं अहिंसक हो रहा हूँ और मजा ये है कि मैंने ये जो हिंसक व्यवहार किया अहिंसक होने के लिए इसकी कोई कोई सवाल नहीं एक बड़े जैन मुनि थे उनकी पत्नी को छोड़ के कोई बीस वर्ष बाद वो काशी में है उनकी पत्नी मर गई तो उन्होंने वहां खबर मिली उनको तार मिला तो उन्होंने कहा चलो झंझट खत्म हुई तो उनकी जीवन कथा में ये लिखा हुआ है कि वो महान तपस्वी आदमी थे कि पत्नी के मरने पर भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कोई दुख प्रकट नहीं किया इतने ही कहा कि चलो झंझट मिली तो मुझे कोई उनकी जीवन कथा देने आया था तो मैंने कहा कि मुझे बड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती कि जब 20 साल पहले उस पत्नी को तुम छोड़ के चले गए तो झंझट शेष कहाँ थी झंझट कहाँ से थी ये आदमी बीस साल पहले छोड़ के चला आया है इसको झंझट अभी बाकी थी जिस पत्नी को तुम छोड़ ही चुके उसे तुम्हारी क्या झंझट थी और उसके मरने से तुम्हारी झंझट मिटी तो मैं मानता हूं कि तुम 20 साल निरंतर उसके मरने के लिए भी सोचते रहे हो यह असंभव है यह आदमी वायलेंट है यानी यह आदमी पत्नी को मार भी सकता था ऐसे इसने मारने की कोशिश भी की है उसको मरी हुई हालत में छोड़ के भाग ही आया है और अब 20 साल बाद मरती हुई उस स्त्री के लिए भी ये कहता है कि झंझट थी यह आदमी अति हिंसक भाव का आदमी है यानी इस मरने के क्षण में भी इसके मन में न करुणा है न न दुख है न पीला है न संवेदना है इससे कुछ भी नहीं है ये जो बात कह रहा है ये अत्यंत हिंसा से भरी और ये आदमी बीस साल से हिंसक होने की साधना में लगा हुआ है हिंसक आदमी अहिंसक होने की कोशिश में करेगा क्या बिचारा यही कर सकता है कि वो हिंसा का ही उपयोग करेगा दूसरों के साथ भी हिंसा करेगा अपने साथ भी कर सकता है और अक्सर कठिनाई हो जाती है जब हम दूसरों के साथ हिंसा करते हैं तब तो हमें पता चल जाता है दूसरों को पता चल जाता है जब हम अपने साथ करते हैं तो पता नहीं चलता अगर एक आदमी लंबे उपवास करे तो हमें कभी ख्याल नहीं होता कि वो आदमी हिंसा कर रहा है लेकिन अगर मैं किसी आदमी को पकड़ के कमरे में बंद कर दू कई दिन तक भूखा रखू तो सारे गांव को पता चल जाएगा कि आदमी भारी हिंसा जिसने एक आदमी को कमरे में बंद किया हुआ और ताला लगाया हुआ और खाना नहीं दे रहा उस आदमी ये आदमी बहुत दुष्ट है लेकिन कमरे में ताला लगा के मैं बंद हो जाऊं अपने को बंद रखू और बीस दिन खाना ना खाऊं तो गांव भर में खबर पहुंच जाएगी कि आदमी मान तपस्वी लेकिन कर में वही रहा हूं फर्क इतना है कि वो मैं दूसरे के साथ कर रहा था ये मैं अपने साथ कर रहा हूँ इसमें करने वाला और किए जाने वाला दो नहीं है इसलिए भ्रम पैदा होता है तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंसक आदमी अहिंसा पाने के लिए भी जो करेगा वो भी तो हिंसा ही करने वाला है उससे कुछ अहिंसक होने वाला नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि सवाल इसका नहीं है कि अहिंसा परम धर्म है सवाल ये है कि आप क्या हैं क्या कर रहे हैं इसे समझें जाने पहचाने अगर मैं हिंसा कर रहा हूँ तो मैं पहचानू कि मैं हिंसक हूँ और हिंसक होने का ये भावबोध मेरा जितना तीव्र और गहरा हो जाए यानी जितना मुझे ये दिखाई पड़ने लगे सुबह से शाम तक कि मैं हिंसक हूँ जब मैं सड़क पे चलता हूँ तब भी मेरी चाल में हिंसा होती है कोई हिंसा ऐसा नहीं किसी की छाती में छुरा को तभी होती है तो बहुत ही बोथली बुद्धि के लोगों के ख्याल है किसी की छाती में छुरा को तब हिंसा होती है वो तो आदमी इस नजर से देख सकता है किसी को कि हिंसा हो जाए छुरा भोंकने से ज्यादा या ये भी हो सकता है कि ना देखे और हिंसा हो जाए ये कोई सवाल नहीं कि देखे एक रास्ते पे तुम चले जा रहे हो मैं तुम्हारी तरफ बिना देखे चला जाऊं और इस तरह जैसे तुम कोई कीड़े मकोड़े हो तुम हो ही नहीं बड़े नेता इसी तरह चलते हैं सड़कों पर आदमी कीड़े मकोड़े उनके आसपास निकलना Do you feel, sir, that new education or the institution of, of the education which we have can serve this purpose? पहले तो ये बात समझ लें कि ये जो मैं कह रहा था अभी कि ज्यादा कीमती ये है कि मैं हिंसक हूं इसका भाव बोध मेरा पूर्ण हो जाए साध्य का सवाल नहीं है अहिंसा का क्या मैं हूं अभी आज इसी वक्त अगर ये मुझे ठीक ठीक दिखाई पड़ने लगे कि मैं 24 घंटे हिंसक हूँ और ये भी ध्यान रहे कि ऐसा नहीं होता कि आप कभी अहिंसक हो जाएं और कभी हिंसक हो जाएं ऐसा नहीं होता आपके होने में एक तारतम्य है हाँ आपके होने में एक तारतम्य है आप जो है वही करीब करीब 24 घंटे होते हैं कभी कम कभी ज्यादा कभी दिखाई पड़ते कभी नहीं दिखाई पड़ते कभी छिपे कभी प्रकट लेकिन आप होते वही एक हिंसक आदमी हिंसक ही होगा वो जब मंदिर में प्रार्थना कर रहा है उस वक्त भी अगर हम उसके हृदय को खोल कर देख सके तो वो हिंसक ही होगा वो जब किसी को दान दे रहा है तब भी अगर हम उसके भीतर झांक सके तो वो हिंसा ही कर रहा होगा इस दान देते वक्त भी इसकी गरीबी उसके लिए सवाल नहीं होता इस दान देते वक्त भी कि मैं दे रहा हूं और तुम ले रहे हो इस दान देते वक्त भी ये अहंकार रस ले रहा होगा वो हिंसक आदमी जो भी करेगा उसमें हिंसा होगी तो मेरा कहना यह है कि अहिंसक होने का देह में बनाने की जरूरत नहीं है वो बहुत पुरानी तरकीब है कारगर नहीं हुई और नुकसान पहुंचा उससे जरूरत इस बात की है कि मैं क्या हूं इसको जानू पहचानू आज क्या हूं अभी क्या हूं और अगर इसकी पहचान मेरी बिल्कुल साफ हो जाए बिल्कुल साफ हो जाए तो मुझे अहिंसक होने के लिए कुछ करने नहीं जाना पड़ेगा जितनी मेरी समझ साफ हो जाएगी कि हिंसा मेरे जीवन में 24 घंटे खड़ी हुई है पल पल जितनी मेरी समझ ज्यादा तेज हो जाएगी वो मुझे दिखाई पड़ने लगेगा जिस पल में मुझे हिंसा दिखाई पड़ने लगेगी कि हिंसा है उसी क्षण हिंसा असंभव होने लगेगी हिंसा विदा होने लगेगी और मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना मिलना गेस्टर सब बदलने लगेगा ये मुझे बदलना नहीं पड़ेगा ये किसी अहिंसा के ध्येय को सामने रख के मैं बदलूंगा नहीं ये तो मैं हिंसा को पहचानूंगा और ये बदल शुरू होगी समझ बदल लाती है और जिस जिससे बदल शुरू होगी वैसे वैसे मैं पाऊंगा कि हिंसा विदा हो रही है और जब हिंसा विदा होती तो जो शेष रह जाता है वो अहिंसा है यानी अहिंसा कोई साध्य नहीं है जो कल कहीं मिल जाएगा आज मेरे मन के ऊपर की हिंसा विदा हो जाए तो आज अहिंसा उपलब्ध है इसी बात अहिंसा कहीं से लानी और कहीं पहुंचनी नहीं यानी अहिंसा कोई टाइम गैप का सवाल नहीं <coughs> कि मैं दस साल या दस जन्म कोशिश करके वहां पहुंचूंगा वो कोई मंजिल नहीं है वो तो मेरी हिंसा आज खत्म हो जाए तो आज मैं अहिंसक हो गया है और हिंसा कैसे खत्म हो ये किसी हिंसक साधन से नहीं हो सकती खत्म जो मैं कह रहा हूँ ये हिंसक साधन है कि एक आदमी उपवास करे और सोचे कि उपवास करने से मैं हिंसा को खत्म कर दू अब उपवास खुद ही हिंसक साधन है टॉर्चर है सेल्फ टॉर्चर है आत्महिंसा है तो इससे अहिंसा आ नहीं सकती ना हिंसा खत्म हो सकती एक आदमी कहे मैं घर बार छोड़कर बच्चे छोड़कर जंगल भाग जाऊं एक आदमी का मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊं एक आदमी का मैं कांटों पर लेटर रहूंगा ये सारे आदमी हिंसा के ही साधन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए ये अहिंसक कभी नहीं हो पाएंगे तब फिर सवाल ये है कि क्या साधन होगा तो पहली बात है समझ प्राथमिक साधन होगा अंडरस्टैंडिंग पहला साधन है और अंडरस्टैंडिंग से बड़ी कोई अहिंसक साधन नहीं है जगत में क्योंकि जिस आदमी की समझ बढ़ती है उस आदमी के लिए हिंसा असंभव हो जाता है और समझ इतनी अहिंसक है इतनी अहिंसक है कि जिसका कोई हिसाब नहीं क्योंकि समझ इतनी अहिंसक है कि वो उसके लिए असंभव ही है अगर ये दिखाई पड़ना शुरू हो गया कि ये हिंसा है तो हिंसा गई बस वो जो दिखाई पड़ने का क्षण है वही उसके विदा हो जाने का क्षण विदा करने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा टाइमलेसनेस मीन्स टाइमलेसनेस हाँ उसकी बात करेंगे और दूसरी बात जो तुम कह रहे हो कि क्या आज की शिक्षा व्यवस्था इसके लिए कुछ कर सकती है आज की शिक्षा व्यवस्था कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि आज की सारी हाँ। शिक्षा व्यवस्था इसी साध्य को ध्यान में रख के निर्णित हुई है हम बच्चों को साध्य सिखा रहे हैं हम बच्चों को कह रहे हैं चोरी मत करना चोरी नहीं करनी है अचोरी चोरी ना करना ध्यय है वो भेद कल है भविष्य आज बच्चे चोरी करेंगे आज शिक्षक भी चोरी कर रहा है पिता भी चोरी कर रहा है माँ भी चोरी कर रही गांव चोरी कर रहा सारी दुनिया चोरी कर रही और सब शिक्षा दे रहे हैं कि अचोरी है चोरी नहीं चोरी के बाहर जाना चोरी छोड़ना छोड़ेंगे बच्चा भी कसम खा रहा है कि चोरी छोड़ेंगे लेकिन जिस क्षण ये कसम खाई जा रही है कि चोरी छोड़ेंगे उसी क्षण चोरी स्वीकृत कर लेगी चोरी जारी रहेगी तो वो कह रहा छोड़ेंगे वो एक है जो कल होगा मैंने आज तो सवाल नहीं है ना आज तो चोरी करनी ही पड़ेगी क्योंकि सारी दुनिया चोरी कर रही चोरी के बिना जिया नहीं जा सकता शिक्षक भी कहता है कि आज तो करनी ही पड़ेगी आज तो करनी ही पड़ रही है लेकिन छोड़नी चाहिए ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है मनुष्य जीवन के लक्ष्य बड़ी बेईमानी की बात है मनुष्य जीवन जैसा आज है उसकी खोज भी तो एक ऐसी नई शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो बच्चे को ये ना कहती हो कि झूठ मत बोलो जो बच्चे को ये कहती है जब तुम झूठ बोलो तब जागो पहचानो कि तुम झूठ बोल रहे हो और इससे घबराने की भागने की कोई जरूरत नहीं बस इसको तुम जानो कि तुम झूठ बोल रहे हो इसको तुम पहचानो हम तुम्हारे लिए सहयोगी बन सकें कि तुम पहचान सको कि तुम झूठ बोले बात खत्म होगी हमें तुम्हें कुछ और कहना नहीं ये भी नहीं कहना कि तुम मत बोलो तुम छोड़ो ये सवाल नहीं है तुम सिर्फ पहचान सको तुम्हारी सेंसिटिविटी इतनी बढ़ जाए कि ऐसा ना हो कि तुम झूठ बोलो तुम्हें पता भी ना चले तुम झूठ बोल गए हो यही हो रहा है ये हो रहा है कि आदमी को पता नहीं चलता एक आदमी रास्ते में मिलता हमसे पूछते हैं कि कहिए सब मजा है फला आदमी तो नहीं देखा हाँ वो कहता कल ही मिला और वो आदमी है नहीं बस्ती में और ये आदमी का कोई प्रयोजन नहीं है यानी इस आदमी का प्रयोजन भी नहीं है कि इसका कोई हित हो रहा है कि इसका कुछ अहित हो रहा है ये सहज बोल रहा है यानी इस, इस बोलने में कोई स्वार्थ भी नहीं है मगर फिर शायद इसे बोधी नहीं इसे बोधी नहीं कि क्या बोल रहा है क्यों बोल रहा है कुछ कारण है जिनकी वजह से ये बोल रहा है कुछ कारण है जिनकी वजह से ये बोल रहा है वो उन कारणों से सीधा इसको पता भी नहीं होगा ख्याल भी नहीं होगा कि मेरे प्रोफेसर थे तो कभी भी मैं कुछ किसी किताब की बात करता तो वो फौरन कहते हैं हाँ ये किताब बहुत बढ़िया है ये मैंने पढ़ी मुझे थोड़े दिन शक होना शुरू हुआ क्योंकि अगर उन्होंने वो किताब पढ़ी थी तो उस संबंध में बात तो वो कभी कुछ नहीं कर, कर पाते थे ना करते थे लेकिन ऐसी कोई किताब ना थी जो उन्होंने ना पढ़ी हो तो एक दिन मैं गया और मैंने एक बिल्कुल ही झूठे आदमी का नाम लिया जो है ही नहीं न जिसने कोई किताब लिखी तो मैंने उनसे कहा कि आपने रूसी बोर्नकोफ दार्शनिक हुआ उसने कुछ देखा हाँ मैंने सब देखा बहुत बढ़िया लेकिन बीस साल पहले देखा तो मैंने उनसे कहा कि ये तो कभी हुआ नहीं आदमी बीस साल के अंदर बीस करोड़ साल पहले भी नहीं हुआ और इस कोई नहीं लिखने का सवाल ही नहीं इसने एक लाइन नहीं लिखी और मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछा हूँ कि मुझे ऐसा कई बार लगता है कि आपने पढ़ी नहीं किताब सिर्फ आप हाँ भरते हैं क्योंकि आपको ये स्वीकार करना ही कष्टपूर्ण है कि ऐसी भी कोई किताब हो सकती है जो आपने नहीं पढ़ी वो अहंकार भीतर बाधा दे लेकिन उनको कुछ पता नहीं इन लोग इतना आदि हो गए हैं कि ऐसा कहना गलत है कि वो जान के झूठ बोल रहे हैं ये बिल्कुल सहज हिस्सा हो गया उनके खून का हिस्सा मतलब झूठ उनसे निकलता है तो सवाल ये नहीं है कि हम सिखाएं किसी को कि तुम झूठ मत बोलो सवाल ये कि हम उसे जगाए कि तब तुम झूठ बोलते तब तुम जानो इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरा मानना ये है कि जानते हुए झूठ बोलना असंभव होता चला जाता है क्योंकि धीरे धीरे उसकी एब्सिडिटी बेवकूफी नासमझी अज्ञान दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे उससे होने वाला आहिर दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे उससे पैदा होने वाला चक्कर दिखाई पड़ता है क्योंकि एक झूठ फिर और झूठ पैदा करता है फिर और झूठ पैदा करता है फिर उनको बचाने में झूठ ही झूठ हो जाता है फिर हम एक ऐसे जाल में गिर जाते हैं कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है दूसरी मजे की बात यह है कि झूठ बोलने से दूसरे को नुकसान पहुंचता ही है पहुंचेगा ही खुद को भारी नुकसान पहुंचता है क्योंकि ऐसा आदमी धीरे धीरे सत्य को जानने में असमर्थ हो जाता है और ऐसा आदमी कुछ मानवीय अर्थों में इतना कमजोर हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं करते जो आदमी झूठ बोलता है वो कभी ये मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी सच बोलता है वो आदमी कभी किसी को भरोसा नहीं करता वो कभी किसी को मित्र नहीं बना सकता वो कभी किसी बात को सरलता से नहीं दे सकता उसके भीतर की जो मनुष्य होने की संभावना वो छीन हो जाएगी ये अगर सब दिखाई पड़े झूठ का पूरी व्यवस्था कि वो हमें कहा ले जाएगा क्या कर रहा है क्या हो रहा है हमारे बीच क्या फल पा रहे हैं क्या दूसरे के साथ कर रहे हैं ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट हो जाए मस्तिष्क पर तो कोई आदमी झूठ बोलने पर राजी अच्छा नहीं होगा और फिर मजे की बात यह है कि हम ये तो सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो लेकिन हम कभी ये नहीं सिखाते उसको कि झूठ आदमी बोलता क्यों है जो ज्यादा बुनियादी और जरूरी बात है कि झूठ के जो विभिन्न हजार रूप आदमी क्यों बोलता है झूठ और बड़े मजे की बात है एक तरफ शिक्षा शास्त्री कहता है झूठ मत बोलो और दूसरी तरफ जिन कारणों से आदमी झूठ बोलता है वो सिखाया चले जाता है जैसे झूठ का बुनियादी कारण भय है भय की वजह से आदमी झूठ बोलता है अगर दुनिया में चाहिए कि झूठ ना हो तो भय खत्म करो तो शिक्षक डंडल ये खड़ा है और लड़कों से कह रहा है कि झूठ मत बोलना झूठ बोले तो सिर खोल दूंगा अब इस आदमी को पता ही नहीं कि ये क्या कह रहा है यानी आदमी ये एक आदमी डंडे से भय दिखला रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है झूठ मत बोलना सिर खोद देंगे तुम्हारा इसको पता ही नहीं कि क्या कर रहा है ये इसका डंडा तो उसको झूठ बोलने को मजबूर कर देगा ये कहने वाला था कि मैं गिल्ली डंडा खेल रहा था लड़का और ये कहता है मैं पिता की दवा लेने गया था अस्पताल इसलिए स्कूल आने में देर हो गई है और ये डंडे की वजह से कह रहा और ये आदमी कह रहा झूठ बोलना मत नहीं तो मैं सिर खोद दूंगा इसको पता ही नहीं कि झूठ मत बोलना है ये दूसरी ही उल्टी बात है और डंडा बिल्कुल उल्टी बात है अगर चाहिए कि शिक्षक कहता है झूठ मत बोलो तो शिक्षा के क्षेत्र से सारे भय को विसर्जित कर दो लोगों को अभय करो उनको इतना पर बनाओ कि वो कोई भी तकलीफ झेलने को तैयार हो जाए आनंद से लेकिन झूठ की तकलीफ झेलने को राजी हो अगर एक लड़का सच आके बोलता है एक, एक उपन्यास मैंने बोला उसमें एक पात्र है की बड़ी अद्भुत कहानी है उस पात्र की उस पात्र ने एक आदमी को छुरा मार दिया और वो आदमी अपरिचित था ये उसको जानते ही नहीं था समुद्र के किनारे दोनों धूप पर धूप ले रहे थे रेत लेटे हुए अचानक ये आदमी उठा उसकी पीठ में जाकर छुरा पाऊ इसने उसका चेहरा भी कभी नहीं देखा देखे नहीं था चेहरा पीठ की तरफ से छुरा भोंगा फिर उसका लालच मुकदमा चलता तो आदमी ये कहता है की कि बस मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा लगता था कि कुछ भी मैंने नहीं किया कुछ भी मैंने नहीं किया मैं कुछ कर ही नहीं पाया जिंदगी बिल्कुल बेकार चली गई अखबार में दफा नाम भी नहीं चला अचानक रेत पर लेटे हुए उसकी पीठ चमक रही थी धूप में अब मेरा मन हुआ कि छोरा बहुत में दफा अखबार में नाम भी छप जाए चर्चा भी हो जाए आपने कुछ किया ये आपने को भी लगेगा कि कुछ हुआ थ्रिलिंग कुछ कर लिया तो बस इसलिए छुरा मार दिया और तो कोई उदाहरण नहीं कोई नहीं मानता अदालत नहीं मानती कोई नहीं मानता कि कोई दुनिया में कभी किसी आदमी ने सकता तो अदालत उसको धमकी देती है कि तुमको फांसी की सजा हो जाएगी तो वो कहता ये तो सवाल ही नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है ये तो जो आपको करना हो करे लेकिन बात इतनी ही इससे ज्यादा नहीं है तो फिर अब उसको दूसरे गवाह खोजने पड़ते हैं कि कोई और रस्ते से ये आदमी क्योंकि ये तो मानने योग्य नहीं मालूम होता कि कोई आदमी किसी की पीठ पर छुरा मार दे अखारा तो एक गवाह आके कहता है कि इसकी मां मर गई थी तो उसी दिन रात को मैंने इसको थिएटर में देखा सुबह मां मरी और रात ये थिएटर में था और नाच देख रहा तो अदालत पूछती कि तुम थिएटर में थे और नाच थे जिस दिन तुम्हारी माँ मरी थी कहा उस दिन मैं नाच देख था क्योंकि मैंने ये सोचा माँ तो मरी गई अब तो मैं कभी भी थिएटर में जाऊंगा तो माँ के मरने के बाद ही जाऊंगा अब तो अब तो कोई उपाय ही नहीं माँ के मरने के पहले थिएटर में आप कैसे जा सकते यानी अब तो मैं कभी भी जाऊंगा तो माँ के मरने के बाद ही जाऊंगा वो घटना तो बाद में होने वाली तो दिन के बाद होती कि दो दिन के बाद कि तीन दिन के बाद मुझे बीमारी मालूम पड़ा और अगर माँ मरने के बाद लोग थिएटर में जाए तो थिएटर कभी तो खत्म हो जाएगा किसकी माँ नहीं मरती सबकी माँ मरती इसलिए तो वो वो अदालत ये कह मान रही ये आदमी खतरनाक है ये माँ के मरने के बाद शाम को थिएटर देख रहा था नाच देख रहा था उस आदमी ने बताओ पता मैं टिकट पहले ले चुका था वो तो ठीक है लेकिन तुम तो उसी दिन देख रहे माँ के मरने के बाद उसमें कहा तो मैं कभी भी देखूंगा तो माँ के मरने के बाद लेकिन वो आदमी इंकार नहीं करता वो कहता हाँ मैं देख रहा था किसी आदमी ने उससे कहा बहुत दुख तुमको हुआ होगा माँ मर गई तो दूसरे आदमी ने गवाही दी वहां अदालत में कि मैंने इससे कहा कि तुम्हारी माँ मर गई तो बहुत दुख हुआ हो तो उसने कहा हाँ, बहुत दुख हुआ क्योंकि रात भर सो नहीं सका माँ मर गई तो उसके पास बैठे रहना पड़ा रात भर सो नहीं सका तो अदालत से वो गवाह कहता है कि आदमी बड़ा खतरनाक वो आदमी कहता है मैं सच कह रहा हूँ कि पहले तो मुझे माँ के मरने के दुख ज्यादा हुआ था लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे नहीं सोने का दुख ज्यादा हुआ कि रात भर खराब हो जाए माँ तो मरी चुकी अब ऐसे तो वो तो जो होना तो हो ही चुका अभी रात भर मेरी और खराब हो रही तो वो अदालत का मजिस्ट्रेट उससे कहता है कि कम से कम तू झूठ तो बोल तो वो ये कहता है कि कम से कम तू झूठ तो बोल मूर्ख तू ये बातें मत कर तू इतनी सच्ची बातें कहे चला जा रहा है <laughs> कि, इन पर कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि दुनिया पूरी से पूरी झूठ पर वो मजिस्ट्रेट की आंख में आंसू आ गए वो ये कहता है कि ऐसा आदमी मैंने देखे <laughs> वो, वो कहता है कि पहले मुझे यही दुख हुआ था कि माँ मर गई लेकिन घंटे भर के बाद मुझे यही दुख होने लगा कि रात खराब हो जाए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ हुआ यही था सच्चाई ये असल में हम हम एक तरफ सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो और दूसरी तरफ हम जो सब सिखाते हैं वो आदमी को झूठ बोलने के लिए भय सिखाते हैं अगर हमें चाहिए कि हम आदमी को सच बोलने की तरफ ले जाएं और सच बोलना बड़ा आनंदपूर्ण है तो हमें बिल्कुल ही दूसरी धारणाएं साथ में खड़ी करनी पड़ेगी अभय सिखाना होगा और सत्यों को सीधा स्वीकार करना पड़ेगा सीधा स्वीकार करना पड़ेगा सत्य इतने कठोर है कि हालांकि दुनिया कहती रही कि सत्य बोलो लेकिन दुनिया अभी भी राजी नहीं है सत्य के लिए सत्य इतने कठोर है इतने निर्मल है इतने निष्ठुर एक आदमी आपके घर आता है और आप परेशानी में पड़ गए हैं और लेकिन आप कहते हैं बड़ा सौभाग्य हुआ क्या आप आए और वो भी आदमी जानता है कि सौभाग्य बिल्कुल नहीं हुआ वो भी जानता है आपके आप भी उसके घर जाते हो तो जो होता है वो जानता है और वो भी कहता है बहुत सौभाग्य एक झूठा जगत हम खड़ा किए हुए हैं जिसमें सच बोलने को हमने ध्येय बनाया हुआ है और जगत पूरा झूठा खड़ा किए हुए जो स्ट्रक्चर हमने बनाया वो सारा का सारा झूठ पर है सच को हम स्वीकार न करेंगे रास्ते के पति अपनी पत्नी से कहे चलते वक्त वो जो स्त्री जा रही वो मुझे सब बहुत प्यारी लग रही हालांकि स्त्री रास्ते पे चलते हुए प्यारी लग सकती है लगती है लेकिन अपनी पत्नी से वो नहीं कह सकता और व्यवस्था हमने ये की जो सत्य अच्छी दुनिया वो होगी जहां हम बच्चों को इसलिए राजी करेंगे हम उनको इसलिए राजी करेंगे कि लड़की को ये जानना चाहिए कि वही अच्छी लगे ये जरूरी नहीं वो पत्नी हो जाएगी तब भी उसके पति को और भी अच्छा लग सकता है और ये अद्भुत घटना होगी और अत्यंत प्रेमपूर्ण होगी कि पति कह सके कि मुझे वो स्त्री बहुत प्यारी लग रही है और पत्नी इसे सुन सके और समझ सके और दया कर सके पति पर और करुणा कौन हो इस स्थिति में तो ही पत्नी है तो ही उनके बीच प्रेम है कल पत्नी भी कह सकती है मुझे किसी एक एक घटना घटी मुंबई में एक महिला मेरे पास आई कोई चार वर्ष हुआ और उसने आकर मुझे कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ और परेशानी ये कि पति मुझे इतना प्रेम करते हैं जिसका हिसाब है तो उनके प्रेम का कोई अंत नहीं और मैं उनको कभी प्रेम नहीं कर सकी और मेरा प्रेम तो जिससे शादी होने के पहले था उससे आज भी मिलना नहीं है जुलना नहीं है वो आदमी अफ्रीका है कभी चार छह वर्ष में दिन दो दिन से वो आदमी आता और पति मुझे इतना प्रेम करते हैं और ये मुझ पर भार होता चला गया पति मुझे इतना प्रेम ना करे तो ठीक मैं प्रेम कर ही नहीं पाती हूँ और मेरे मन में वो चित्र उस आदमी का भी मौजूद है मैं क्या करूँ मुझे उस आदमी से कुछ मतलब नहीं है न कोई प्रयोजन है न ये सवाल है अगर आज मुझे कोई कहे भी कि वो आदमी तुम्हें मिल जाए तुम उस पति को छोड़ दो तो छोड़ भी नहीं ये भी सवाल नहीं यानी और इस पति पर मुझे भारी दया मालूम होती है लेकिन प्रेम नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ और वो भारी रोने लगी मैं उसको कहा कि तू अपने पति को कह पूरी बात कह तेरा मन हल्का होगा उसने वो क्या सोचेगी कि तो वो मुझे इतना प्रेम किया बीस साल हमारी शादी हुआ हो चुकी आजकल की बात नहीं लेकिन चित्र तो मेरा वही गिरा ही हुआ है वही गिरा फिर भी मैं उसको समझाया ना तो अपने पति को कह क्योंकि ये बड़े प्रेम की बात है कि तो अपने पति को सारी बात ये सब संभव है इसमें कुछ ऐसा संभव नहीं है और पति तो उसे प्रेम करते हैं तो समझेंगे फिर क्योंकि वो मेरे पास आते हैं मैं जानता हूँ समझेंगे उसने जाके बड़े डर से बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई कि मैं जाके कहूंगी उसने अपने पति को जाके कहा पीछे मुझे मिली जब मैं दोबारा गया तो उसने मुझे कहा कि हैरानी की करने बैठी मैं तो ये सोचती भी नहीं जब मैंने ये सारी बात उन्हें कही उस दिन के बाद उनका जो मेरे प्रति प्रेम है वो अद्भुत हो गया वो बहुत ही और हो गया इतने समीप हम कभी भी नहीं थे और मैं अपनी बात करके हल्की हो गई फिर वो आदमी आया तो उनके पति उसको घर ला के ठहराए वो आदमी आया तो उसको घर ला के ठहराए सात दिन उनके घर ही था वहां और उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि सात दिन उन्होंने इस भांति कोशिश की कि हम कितने पास बैठ सके कितनी बात कर सके कितने मिल सके और इन सात दिनों में वो आदमी विदा हो गया मेरे चित्र से मेरे पति की मूर्ति स्थापित होगी जो बीस साल में नहीं इन सात दिनों में वो पूरी कोशिश ये की है कि हम कितने करीब रह सके वो घर के बाहर ही ज्यादातर रहे ताकि हमारे हम जितना निकट रह सके लेकिन उस आदमी की तस्वीर मेरी विदा हो क्योंकि वो सब मैंने सोच रखा था वो तो कल्पने में था वो आदमी तो साधन था और पति मैंने कभी नहीं देखा था क्योंकि वो मैंने देखने की कोशिश ही नहीं की थी जो था उस आदमी में वो मुझे अब प्रकट हुआ कि कितना उनका प्रेम है मगर सत्य की बोलने की सार्थ तो हम नहीं सिखा अब मैं ये मानता हूं कि इस सच को बोलने से उनकी जिंदगी में जो घटना घटी है वो उस झूठ का आवरण कभी नहीं घटने वाली थी वो आवरण वैसे बन गया वो खत्म वो आदमी विदा हो गया उसके क्षेत्र से वो बात गई क्योंकि उससे भी महत्वपूर्ण अद्भुत आदमी उससे निकट आ गया है हाँ, चला गया और चीजें साफ हो गई और पति और उसके बीच अब एक दीवार नहीं है अब हल्कापन है एक अपराध नहीं है बीच में एक घाव भी नहीं है कुछ छिपाया है ऐसा नहीं है बीच में क्योंकि जब हम कुछ छिपाते हैं तो वो बोझ बन जाता है तो मेरा मानना यह है कि हमारी जो सारी की सारी व्यवस्था है वो तो झूठ पर खड़ी हुई है उसमें तो कहीं हम सच को जगह नहीं देते और लक्ष्य सत्य का बनाए हुए हैं और इसी तरह हमारी सारा काम सारी व्यवस्था हिंसा पे खड़ी लक्ष्य हिंसा का सारी व्यवस्था बेईमानी की है ईमानदारी की बात बल्कि ये हो गया आखिर में कि जितनी बड़ी बेईमानी करनी हो उतना बड़ा ईमानदारी का बोर्ड लगाना चाहिए जो लिखे हुए हैं दरवाजे पे कि ईमानदारी धर्म है वो उतनी बड़ी बेईमानी पीछे कर सकते हैं ईमानदारी का भी उपयोग बेईमानी के लिए ही होगा मगर हमारे ख्याल में ये नहीं आता है कि ये ये हुआ इसलिए कि हमने लक्ष्य को भविष्य में रख दिया है मैं ऐसी शिक्षा चाहता हूँ जहाँ रोज की जिंदगी ही लक्ष्य है भविष्य कुछ है नहीं आज जो जी रहा हूँ वही सब कुछ है इसको जानू समझू पहचानू और इसको पहचानने जानने समझने में कैसी हवा चारों तरफ सहयोगी होगी वो हवा हम शिक्षा संस्थाओं में दें वो हवा वहां बनाए जो सच बोले उसको हम आदर करें चाहे सच कितना ही कठोर चाहे सच कितना ही निर्मल और चाहे सच कोई भी नग्नता को प्रकट करता हो लेकिन सच आदृत होगा सच ही आदृत होगा सच का आदर बढ़े सच की प्रतिष्ठा हो तो और सच कैसे समझा जाए और कैसे हम पहचाने कि कहा हम झूठ को पकड़ते हैं क्यों पकड़ते हैं उसकी समझ उसकी पहचान बढ़ने की सारी साधना है पूरे पहले दिन से शिक्षा के न भूगोल इतनी महत्वपूर्ण न गणित न केमिस्ट्री जैसे अवेयरनेस ध्यानपूर्ण चित्त जो कि एक एक चित्त के आज जो चित्त है उसको समझने में सहयोगी बनता चला जाए और मजा ये है कि जितना हमारी गहरे में समझ पड़ती है उतना ही रूपांतरण हो जाता है समझ साधन है और समझ से बड़ा कोई साधन नहीं तुम्हारे कुछ अगर पूछने का बड़ा हो गया ये फिर कुछ और अलग ले लेंगे